तो जब ये समझे देखो एक दफे और समझ लो माँ जानी जैदन वाकिबन इसके अंदर बदला था कि हाल दुल्हाल के आमिल के लिए कैद होता है हाल है राकीबन और जैद है जुल्हाल और जुल्हाल का आमिल है जा तो जब नफ़ी होगी तो क़ैद की नफ़ी होगी तो यहाँ पर माँ जानी जईदुल राकीबन के अंदर जब नफ़ी होगी तो राकीबन जो क़ैद है इसकी होगी जा यानी आने की मजीहत की नहीं होगी तो मेरे पास जैद नहीं आया सवार होकर यानी सवार होने की हालत में नहीं आया बल्कि वैसे ही आया है अब इसको खुलूस में समझो खलूसहू मिन ज़ौफ़ तालीफ़ी व तनाफुर कलिमाती व ताक़ीबी मा फसाहतिया उसका कलाम का खाली होना ज़ौफ़ तालीफ़ तनाफुर कलिमात ताक़ीद से मा फसाहतिया दरा हाल के उन कलिमात के फसी होने के साथ साथ ये बात थी अब इस पर बाज़ लोगों ने क्या कहा कि इसको मा फसाहतिया को हाल कराते कलिमात से और व ताक़ीदी को लेकर आए महा के बाद में ताकि दरमियान में अजनबी का फसल न हो अजनबी क्या है अजनबी है ताक़ीद और ताक़ीद अजनबी इसलिए है कि इसका आमिल खलूस ज़ौफ़ तालीब इसका आमिल खलूस तनासुर का आमिल खलूस और कलिमात का आमिल तनासुर लेकिन इसका मुजाफिले है है ना इसका आमिल तनाफुर और ताकिद का आमिल खरूस तो कलिमा का आमिल तनाफुर और इसके बाद जो ताक़ीदारी इसका आमिल हो रहा है खरूस तो ये अजनबी का फसल हो गया तो इसलिए कहते हैं कि वह तनाफुर कलिमाती मा फसाहतिया व ताक़ीदी कह देते तो ज़्यादा सही होता मुसनफ़ अली रहमा फरमाते हैं वफ़ी ही नजर इसके अंदर नज़र हमारे जो मुसनफ़ साहब हैं बड़े ही गहरे इल्म वाले हैं तो इनकी नज़र बड़ी गहरी है इनकी नज़र पहुंच गई है तो के देखो ये खराबी आ जाएगी फरमा दिया कहते हैं कि इसके अंदर नज़र है इसमें खराबी लाजिम आ रही है बल्कि मकसूद ही बदल रहा है मकसूद ही बदल रहा है कैसे देखो खलूस मिनजाफ़ तालीफ सही वतनापुरकलीमाती मा फसाहतिहा वताकीब उसका खाली होना मिन तनापुरी तनाफुरकलीमाती मा फसाहतिहा ये ले लो उसका खाली होना तनाफर कलिमात से उसके फसी होने के साथ साथ ज़रा के वो कलिमात तस्की हों ये क्या है हाल राकिबन जैसा हालत तो ऐसी हाल है ना माँ फसा हतिया हम्म। और इसका जुलहाल क्या था जेड है ना और माँ फसा हतिया का जुलहाल क्या होगा कलिमात ठीक है और इसका आमिल जेड का आमिल क्या था जा और कलिमात का आमिल क्या है तनब ठीक है और मैंने बतलाया था कि जो नफ़ी होती है वो नफ़ी किसकी होती है कैद की नफ़ी होती है तो नफ़ी किसकी होगी माँ फसाद या नफ़ी होगी अरे कैद माँ फसाद या है ना तो नफ़ी इसी की होगी यानी फसी ना होना ये हो जाएगा कलीमात का तनाफुर यानी कलीमात के अंदर तनाफुर पाया जाए और वो खाली हो किससे कलाम की कलिमात के फंसी होने से यानी कलिमात फंसी ना हो कलिमात जेर फंसी हो तनापुर कलिमात हो तो क्या हो जाएंगे वो फंसी हो जाएंगे नहीं तनापुर कलिमात से खाली होना यानी तनापुर कलिमात का ना होना अब ये नहीं हुआ अब क्या हुआ कि तनापुर कलिमात हो और माँ या इसमें नफी गई खरूस तनाफुर कलिमात हो और फसी ना हो यानी तनाफुर कलिमात हो और फसी ना हो तो उस वक्त में क्या होगा कलाम फसी होगा हालांकि ये क्या है मुसनफ के मकसद के बिल्कुल खिलाफ है नहीं है खिलाफ हम्म। अब चूंकि ये जो नफी करेगा ना खलूस ना होना अभी इसके नहीं करेगा अब किसी करेगा हाँ। की करेगा वहाँ आती माँ फसाहत या आई माँ गैर फसाहत बिदूनी फसाहत या तनाफुर कलिमात का होना किस हाल में कि वो गैर फसी हो तो क्या होगा कलाम फसी होगा तो अरे यही मतलब हुआ ना तनाफुर कलिमात का होना किस हाल में कि वो जो कलिमात हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए जहर फसी होने चाहिए अब क्या हो गया कि ऐसा होगा तो कलाम फसी होगा हालांकि ये क्या है बिल्कुल के खिलाफ है कहना है अरे आगे कुछ पल्ले में को देख दामन सीधा करके देख आई ना आई समझ आई ना नहीं अगर ना आई हो तो बताओ चलो देखो तो यहाँ पर ये जो फी ही नजर आया था हम्म। वलफसाद फिल कलामी खलूस व मिज़ोफ़ तालीफ़ी व तनाफुलकलीमती व ताक़ीदी माफ़साहतिया फिर इस पर ये इश्काल हुआ था वफ़ी नजरुन अगर मुसनफ़ ने इस पर ये किसी का कौल जिक्र किया था वकीला हुआ हालम मिनल करीमात से उसके बाद में फिर मुसनफ़ ने कहा कि इसके अंदर नज़र है और नज़र किस तरह से है वो भी बतला दी इसका तर्जुमा देख लो नज़र का वफ़ी ही नजर और इसके अंदर नज़र है तनाफुरी इसलिए कि उस वक्त वो तनाफुर की कैद होगा अरे उस वक्त वो तनाफुर की कैद होगा लाल खलूसी ना के खलूस की कौन माफसाहतिहा किसकी कैद होगा तनाफुर की कैद होगा है ना ना के खलूस की वयलजमून अलकलाम अलमुश्तमिल फसीहती फ़सीहन और लाजम आएगा कि वो कलाम जो मुश्तमिल है तनाफुर कलीमात गैर फसीहा पर क्या हो फसीहन वो फसीह हो हालांकि क्या है बिल्कुल बरखिलाफ है ले अलैहि इसलिए कि सादिक आता है उस पर कि वो तनाफुर कलिमात से खाली हो इस हाल में कि वो फसीह हो फम इसको तुम क्या कर लो अच्छी तरह से समझ लो बस जोफू ये तो हो गया था जोफ तालीफ भी हो गया था ज़रब गुलाम हूँ ये सब कुछ समझा दिया था अब तुम यहाँ से छलांग लगा कर आ जाओ हम्म। देखो यहाँ दो शहर जिक्र किए थे इन्होंने ज़ौफ़ तालीस के अंदर एक जिक्र क्या था लईसा लईसा कुरबा कबरी हरबिन कब्र और एक शेर जिक्र क्या है करीम मता अमदाह अमदाह वलवरा व इरा मालूम व इरा मालूम वाहदी ये दो शेर जिक्र किए थे मुसनफ ने यहाँ पर दो शेर क्यों जिक्र किए हैं उसकी वजह यहाँ आगे बदला रहे हैं कि मैंने ये दो शहर क्यों जिक्र किए हैं वह इन नमा मसाला मिसाल और जुजी ने इसके दो मिसालों को बयान किया दो मिसालों की मिसाल दी यानी दो मिसालों को जिक्र किया बयान किया क्यों वजह अन्नल अव्वला मुतनाहिन फिसली इसलिए कि पहला वो शिकल में इंतहा को पहुंचने वाला है यानी पहले के अंदर शिकल बहुत ही ज़्यादा है वह सानी दूना और दूसरे के अंदर उससे कम है क्यों है जी कम तो पहले के अंदर लईसा कुर्बा कबरी हरबिन कबरू यहाँ पर जो कलिमात है वो जमा है उनके जमा होने की वजह से यहाँ पर शिकल आ रहा है ये कलिमात ही कुछ इस तरह के हैं और दूसरे के अंदर कलिमात तो इतने मुश्किल नहीं हो रहे लेकिन इसके अंदर जो अमदाह अमदाह हा और हा इसका इज्तम हुआ और फिर इनका तकरार हुआ तो इस तकरार की वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, है? तकरार की वजह से इसके अंदर तो क्या बात हो बाद में पूछे जाए जो भी कुछ अभिप्राय हो दिख रहा है अमदाहू अमदाहू हा और हा ये जमा हुए और फिर दो मरतबा इस तरह से हो गया तो इसकी वजह से इसमें शेख हो गया अगर सिर्फ एक मरतबा हो तो नहीं होगा सिर्फ मरतबा हो तो नहीं होगा दलील बेहू बस आप उसकी तस्वीर बयान कीजिए हा और हा दोनों हरूफ हल्की में से हैं दोनों जमा हो पुराने करीम के अंदर तो मालूम हुआ कि अगर तकरार ना हो तो उस वक्त में होगा उस वक्त में गैर नहीं होगा और मुसनफ़ ने दो मिसालें दी इसलिए कि पहली मिसाल वो शिकल में इंतहा को पहुँचने वाली है वो सानिया दो हो और दूसरी उससे कम है लन्ना मनशाली फिलअली नफ्समाइल कलिमाती इसलिए के पहले में शिकल का मनशा नफ्समाइल कलिमात नफ्स कलिमात का जमा हो जाना है नफ्स कलिमात यानी यही कुर्ब कब्र इनका जमा हो जाना है मुकर आ जाना है वफिसानी इजतमा हरूफ मिनहा और दूसरे के अंदर उसके हरूफ का जमा होना अरे हरूफ का जमा होना हा और हा हा और हा इनका जमा हो जाना है हुआ हुआ फी तकरीरी अमदाह और वो अमदाह के तकरार में अमदाह के बार बार लाने में दूना मुजरद जमई बैन अलहा नाक के सिर्फ हा और हा के दरमियान जमा होने में यानी कि हा और हा जमा हो गया तो इसकी वजह से इसके अंदर शिकल आ गया ये ऐसा शिकल नहीं है कि जो मुखिल बिल फसाहत हो हाँ डबल आ गया तकरार हो गया तो उस वक्त में ये मुखिल बिल फसाहत बनेगा क्यों जी ऐसा क्यों तुम्हारे पास कोई दलील है जी हाँ जी दलील है लिवक़ी फिर तंजीली उसके तंजील में यानी कुरान करीम के अंदर नाजिल होने की वजह से कहाँ है देखो हा और हा हो ना जमा अगर अगर हा और हा का जमा होना शिकल का सबब होता हम्म और ये ऐसा शिकल होता जो मुखिल बिल फसाहत हो तो कुरान करीम के अंदर ना आता कुरान करीम में आया तो मालूम हुआ कि ये शिकल का सबब नहीं है कि जो फसाहत के अंदर मुकीम होता हो फला यसिकुलकौलू बी अन्ना मिसला हाजत शिकली मुखिल बिल फसाहती ये सारी बातें क्यों कह रहे इसलिए किसी ने कह दिया ऐसा बस सही नहीं होगा अल कौल कहना इस बात का इस बात का कि मिसला हालत शिकली के इस जैसा सिकल वो मुखिल बिल फसाहत है ये जो मिसाल लाए ना मतलब वो इस ये सब क्यों कह रहे क्योंकि ऐसा किसी ने कह दिया अगर कह दिया तो उनकी बात को रद्द करना है अब एक वाक़ जिक्र फरमा रहे हैं जकारा साहिब इसमाइल अब्बादिन ये साहिब इनका लकब है इस्माइल इब्न अब्बाद ये इनका नाम है इन्होंने कसीदा पढ़ा अपने उस्ताद इब्नुल उमेद के सामने साहिब इस्माइल इब्न अब्बास ने एक कसीदा पढ़ा इनके सामने अपने उस्ताद इब्नुल उमेद के सामने कसीदा पढ़ते पढ़ते जब वो इस शहर पर पहुंचे ये जो शहर यहाँ पर आया करीम मता वलवरा माया वजा मालूम तो उलम तो वाहदी जब वो इस शहर पर पहुँचे तो उस्ताद साहब ने उनसे कहा भाई क्या तुम इसके अंदर कोई ऐप पाते हो कोई ऐप जानते हो तुम इसके अंदर कि इस शहर के अंदर कोई ऐप हो कहने लगे कि हाँ इसमें मदाह का मुकाबला लोम के साथ क्या है मदह का मुकाबला लोम के साथ क्या है क्या मतलब करीम मता अमदाह अलवरा मदाह है ना मदाह तारीफ मदह और आगे क्या हुआ इरामा लुम तो लुम तो वाहदी तो मलामत लोम लोम से बना है और अमदाह या मदह से बना है तो मदाह का मुकाबला लोम से क्या है हालांकि मदाह का मुकाबला लोम से नहीं होता मदाह का मुकाबला तो जम से होता है या हिजो से होता है यहाँ पर लुम तू की जगह जम से बनाना चाहिए था कि मैं उसकी मजम्मत करता हूँ जम से उस्ताद साहब ने कहा भाई मैं इसके अलावा को मालूम करना चाह रहा हूँ इसके अलावा बताओ ये शागिर साहब थे ही इस्माइल इबन अब्बाद ये कहने लगे कि मुझे तो मालूम नहीं है इसके अलावा तो फिर उस्ताद साहब ने कहा यही वाली बात जो यहाँ पर जिक्र की जा रही है कौन सी कि हा और हा का तकरार ना कि सिर्फ हा और हा का एक ही मरतबा आ जाना उन्होंने ये कहा कि देखो यहाँ पर अमदाह और अमदाह के अंदर तकरार हो रहा है हा और हा का इज्तिमा है जो कि हरूस हल्की में से है है ना और यहाँ इनका तकरार है जब तकरार है तो अब ये हद अतदाल से निकल गया और इसके अंदर मुकम्मल तनासुर पैदा हो गया फातना अली साहिबू तो इस पर उनके जो शागिद थे उन्होंने उस्ताद साहब की तारीफ की ये पूरा वाक़ क्यों जिक्र किया गया ये ताइद में पेश किया गया कि जो हम कह रहे हैं कि हा और हा का तकरार अमदाह अमदाह दो मरतबा आ जाना सिर्फ एक मरतबा आना नहीं दो मरतबा आ जाना तकरार हो जाना ये है मुखिल बिलफसाहत सिर्फ एक मरतबा आ जाए तो मुखिल बिलफसाहत नहीं है जैसा कि बाद लोगों ने कहा है देखो वाकया साहिब इसमाइल इबन अब्बादिन साहिब इसमाइल इबन अब्बाद ने जिक्र किया है अन्नहु अनशद हादिल कसीदत बहजरत उस्ताद इबन उमैदी कि उन्होंने इस कसीदे को उस्ताद इब्नुल उमेद के सामने की मौजूदगी में पढ़ा फलम्मा बलवा हारल बैता बस जब वो इस शेर पर पहुंचे तो उस्ताद साहब ने उनसे कहा हल तारीफू फी ही शई अम मिनल भुजनती क्या तू इसमें कोई ऐब पहचानता है जानता है काला नाम उन्होंने कहा हजरत जी हाँ मुकाबलतुलमदही बिल्लि मदह का मुकाबला लोम के साथ वनमाबिलमी हिजारी और जम का मुका और उसका मुकाबला तो जम या हिजो के हिजो के साथ किया जाता है के साथ किया जाता है तो तुमने ऊपर रख दिया हो मैंने फेंका वहाँ पे रख चलो कोई बात नहीं हम्म। फ़काल उस्ताद तो उस्ताद ने कहा गैरा हाजा उरीदू मैं इसके अलावा चाहता हूँ मैं इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ फ़काल साहिब तो साहिब शागिद ने कहा क्या कहा ला अदरी गैर जालिका मैं इसके अलावा को नहीं जानता हूँ फ़काल अल उस्तादु तो उस्ताद ने कहा हादत तकरीर फी अमदाहु अमदाहु माल जमी बैन हाई वल हाई ये तकरार है बार बार आना है अमदाहु अमदाहु में हा और हा के दरमियान जमा होने के साथ यानी हा और हा का इज्तिमा और तकरार ये दोनों चीज़ें वह हुमा मिन हरूफिल हल्की और वह हरूफ हल्की में से है खारिज नान हदाल जो खारिज है हद एतदाल से तकरार नाफरा तनाफुरी तो ये पूरा तनाफुर हो गया मुकम्मल तनाफुर इसमें पाया गया फसना अली साहिब तो इस पर साहिब ने कौन साहिब ये नहीं जो परेशान करना है साहिब इस्माइल अब्बास इन्होंने उस्ताद साहब की तारीफ की तो इस पर साहिब ने तारीफ की चलो बस हम्म। ताकीद अच्छे इबारत तो पाई जाती आज पढ़ ही और ताकीद अई कौनुल कलामी मुआक़दन और ताक़ीद यानी कलाम का मुआद होना मुआक़द होना पेचीदा होना व ताक़ीद और ताक़ीद मुआक़दन मुआक़द होना पेचीदा होना यानी कलाम का पेचीदा होना अल्लाह कलाम ज़ाहिर मुरादी ये के कलाम ज़ाहिर दलालत ना हो किस पर मुराद पर ताकीर कलाम ताकीर कलाम का पेचीदा होना के कलाम मुराद पर जाहिर दलालत ना हो यानी जो मुराद है उस पर कलाम जाहिर ना हो रहा है वो अपनी मुराद को जाहिर ना कर रहा हो उसके अंदर पेचीदगी पैदा हो गई हो लिखलालिन वाक़ इम्मा फिनस कुछ खलल की वजह से जो वाक़ हो या तो नज़म के अंदर आगे आ रहा है आओ नज़मी आगे कहीं को आ रहा होगा नसरी वसरी कुछ आ रहा होगा चलो जहाँ ठीक ही जाएगा या तो नज़म के अंदर नज़म के अंदर नज़म का मतलब अरे यही जो अशार वगैरह होते हैं जिनके कदीमात पिरोए हुए होते हैं ये जो अशार वगैरह होते हैं या तो नज्म के अंदर होगा वजह क्या है इनकी कलाम जो पेचीदा होता है उसके अंदर जो ताकीद पैदा होती है वो क्यों पैदा होती है इसके कुछ इसबाब है क्या इसबाब है जी बदलाव है या देखोगे दिखा दो देख दो बेसाबाबी तकदीम मुकदम करने की वजह से करना चाहिए था किसी कलीमे को मखर और कर दिया मुकदम जब मुकदम कर दिया तो अब क्या हो गया इसके अंदर पेचीदगी पैदा हो गई और वो अपनी मुराद पर अब जाहिर नहीं हो रहा अपनी मुराद को जाहिर नहीं कर रहा है आओ ताखिर या मौखर करने की वजह से मौखर करने के सबब से करना चाहिए था मुकदम कर दिया मौखर तब क्या हो गया उसके अंदर ताखिर पैदा होगी पेचीदगी गई अव हजबिन या हज तो करने की वजह से जिक्र करना चाहिए था हज कर दिया तो ताखिर हो गई आओ इजमारिन या जमीर के वजह से जमीर को लाने जिक्र करना चाहिए था नाम को वहाँ पर जिक्र करना चाहिए था क्या रिजवान को रिजवान को दिया हुआ तो जमीर को लाने की वजह से इसमें जाहिर को न लाने की वजह से आओ गैरी जालिका या इसके अलावा इसके अलावा क्या है नीचे दे रखा मेहरबानी कर दी कल फसली बिल अजनबी ये गैर मुस्तदाई वाल खबरी वो सिफत वाल मौसू जैसे फसल करना कहाँ अजनबी का फसल कर देना मुबतदा और खबर के दरमियान कोई अजनबी लफ्ज कलीमा लेकर आ गए या सिफत मौसू के दरमियान में कोई कलीमा लेकर आ गए तो उससे क्या हो रहा है अब पता नहीं चल पा रहा कि इसको हम तर्जमा किस तरह करें इसका मतलब जाहिर नहीं हो पा रहा तो जो कलाम ऐसा हो जिसके अंदर ताक़ीद हो यानी कलाम अपनी मुराद पर जाहिर ना हो अपनी मुराद को जाहिर ना कर रहा हो तो उस कलाम को क्या कहा जाएगा कि ये कलाम क्या है फसी है अरे कलाम अरे क्या है जो कलाम अपनी मुराद को जाहिर ना कर रहा हो उसके अंदर पेचीदगी हो तो ऐसे कलाम को क्या कहा जाएगा समझ में साफ आ जाए फसाहत उसको कहते हैं बला असर हो सुनने वाले पर बलावत उसको कहते हैं तो समझ में साफ आ जाए फसाहत उसको कहते हैं अरे ताकीद होगी पेचीदगी होगी तो अब उस कलाम को कलाम फसी कहा जाएगा अरे कलाम फसी नहीं कहा जाएगा बोलता नहीं है चल कौलिल फरज तकी जैसा के फरज तक का और फी मदही खाली Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwana Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan के मामू की तारीफ में फरजदक ने शहर कहा है Hisham ibn Malik ibn Marwan के मामू की तारीफ में कौन है मामू हुआ हुआ Ibrahim ibn Hisham ibn Ismail al Makhzumi ji और वो मामू ji Ibrahim ibn Hisham ibn Ismail Makhzumi है शेर क्या है वमा अबू उम्मू हय्युन अबू युकारिबू माँ मिसलू उसके मिसल लोगों में नहीं है क्या हयुल आगे आ रहे हयुल जिंदा नहीं है अबूहू युकार हाँ, जो उसके मुशावे हो है ना अबूहू उसका बाप अबू उम्मू उसके माँ का बाप और क्या जिंदा नहीं है लगन कोई बादशाह तो यहाँ पर बड़ी पेचीदगी पैदा हो गई है और इतनी बेड़ी इतनी पेचीदगी पैदा हो रही है कि मुसनफ ने तकरीबन इसके अंदर आधा कौन सफ़ा घेर लिया है तो इसलिए इसको हल करें